भोज्यते भोज्यते अपरोक्षानुभूतिर्वै भोज्यते मोक्षसिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन अपरोक्षानुभूतिर्वे प्रोच्यते मोक्षसिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणे परोक्षानुभूतिर्वै रोचते मोक्षसिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः सिद्ध रोचते प्रयत्न सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः अच्छा, श्लोक कंठस्थ किए हैं क्या अच्छा ठीक है तो कल के लिए ये श्लोक रहा द्वितीय भी और तृतीय भी और आप रवि जी अगर हो सकता है तो एक श्लोक कंठस्थ करेंगे और ये श्रीलक्ष्मी जी आप भी ये कंठस्थ करके श्लोक सुनाएंगे तो जो पाठ होगा उसको सुनाएंगे श्लोक आगे यहाँ तक विचार हो गया यह ग्रंथ का विषय क्या है वो कहते तो हैं अपरोक्षानुभूति ये ग्रंथ का विषय है ये टीका में हम लोग देख रहे थे बीसवा पंक्ति से आज देखेंगे टीका में क्योंकि ग्रंथ का आरंभ में अनुबंध चतुष्टय कहा जाना चाहिए विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी ये चार चीज कहा जाना चाहिए विषय कह दिया गया अपरोक्षानुभूति यह ग्रंथ का विषय है और इसका प्रयोजन भी कहना चाहिए क्यों प्रयोजन कहना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है ननु प्राय प्रयोजन अनुद्देश्य न भी प्रवर्तते न्याय न न हो ग्रंथ इति आशंक्य प्रयोजन आरम्भ ये न्याय है न्याय अर्थात जो सर्वजन गृहित स्वीकृत सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं प्रयोजन अनुद्देश्य प्रयोजन को लक्ष्य नहीं रख करके मंदो भी न प्रवर्तते मंद अर्थात बुद्धि जिसका विवेक युक्त तो नहीं है वो भी प्रयोजन नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होता है और गुरु पक्ष का कहना है हम मंद नहीं है हमारे बुद्धि कार्य करते हैं अतः हाँ तो बुद्धि कार्य करती है तो हम पहले पूछेंगे करने से हमको क्या होगा अगर कोई फल नहीं होगा तो हम इसमें प्रवृत्त क्यों होंगे प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते अर्थात जो प्रवृत्त होता है वो प्रयोजन को उद्देश्य रखता है क्योंकि इस वाक्य में दो नए दे दिया प्रयोजन अनुद्देश्य उद्देश्य नहीं करके मंदोपी न प्रवर्तते अर्थात जो प्रवृत्त होता है वो प्रयोजन को उद्देश्य करता ही है दो नए दे दिया गया तो अवश्य करते हैं ये वाक्य कहा ये अर्थात ऐसे ये न्याय न्याय अर्थात लोक प्रचलित इति न्याय ये न्याय है न आरंभणीय ग्रंथ इति आशंक्य क्योंकि इस ग्रंथ का प्रयोजन कुछ नहीं है तो यह ग्रंथ न आरंभणीय आरंभणीय में क्या प्रत्यय हो गया अन्य अन्य क्या सूत्र तव्य तव्य नियर्थ तो यह ग्रंथ आरंभ करना नहीं चाहिए पूर्व पक्ष कहना है कि आशंक्य अर्थात इस प्रकार की आशंका देखा करके प्रयोजन आकर यह ग्रंथ का प्रयोजन कहते हैं श्लोक में द्वितीय पाद में कहा मोक्ष सिद्ध है तो मोक्ष की सिद्धि के लिए मोक्ष सिद्ध में समाज कैसे होगा मोक्ष से सिद्धि आगे तस्में नहीं होगा क्या तस्मी कैसे बने मोक्ष से सिद्धि सिद्धि क्या कुंडली का है नहीं तो तस्से शब्द है ना इसलिए मोक्ष से सिद्धि शब्द का शब्द होता है तस्वीर तो तस्वीर अर्थात मोक्ष का सिद्धि के लिए यह ग्रंथ अर्थात यह ग्रंथ का प्रयोजन मोक्ष का सिद्धि के लिए टीका में मोक्ष क्या है मोक्ष नाम नाम अर्थात मोक्ष क्या है कहते हैं उसका व्याख्यान करने के लिए कहते हैं मोक्ष नाम अर्थात मोक्ष कहा जाता है स्वाविद्या कल्पित नात्म देहाद्यात्मत्वाभिमान रूप बंध निवृत्ति द्वारा स्वस्वरूपावस्थान हो गया मुख्य स्व अविद्या कल्पित अनात्म देहादि आत्मत्वाभिमान रूप बंध निवृत्ति यहाँ तो हो गया कितना पद हो गया देखिए ब्राह्मण पार्श्व से इसका समाज देखेंगे स्व अविद्या कल्पित अनात्म देहादि यहाँ तक हो गया पहले स्व अविद्या में स्वस्य अविद्या ये स्वस्य अविद्या अविद्या का अर्थ अज्ञान जैसे कहते हैं कि घट ज्ञान समास क्या होता है घटस्य ज्ञान तो घटस्य ज्ञान कहने से ज्ञान हुआ है घट हुआ ये दोनों का बीच में संबंध क्या है ज्ञान का ये घट क्या बनता है विषय तो जो घट ज्ञान कहते हैं ज्ञान का विषय हो गया घट इसी प्रकार की जब कहेंगे घटा ज्ञान समाज कैसे कहेंगे घट से अज्ञान तो यहाँ अज्ञान का विषय क्या है घट जैसे ज्ञान का विषय घट अर्थात हम घट को जान रहे हैं इसी प्रकार की अज्ञान का विषय घट अर्थात हम घट को नहीं जान रहे हैं इसी प्रकार की यहाँ कहा गया स्व अविद्या तो समास हो जाएगा स्वस्य अविद्या अविद्या अर्थात अज्ञान अविद्या का विषय क्या है यहाँ क्या शब्द दिया है कहा इक्कीसवा पंक्ति में अभी स्वाविद्या समास चल रहा है ना तो समास स्वाविद्या में क्या समास हो गया स्वस्य अविद्या तो अविद्या का विषय क्या हुआ स्व तो स्व शब्द का चार अर्थ होते हैं क्या क्या अर्थ होते हैं आत्मा आत्मीय ज्ञान जाति और जाति कहाँ है शो का चार शब्द होते हैं ना चार अर्थ आत्मा आत्मीय ज्ञाति धर्म चार चीज होता है ना ये सब आगे आगे चलते चलते <laughs> पीछे पीछे भूल करते हैं तो आत्मा आत्मीय ज्ञाति धनम यहाँ स्व शब्द का क्या अर्थ लेंगे आत्मा तो विद्या का विषय क्या हो गया आत्मा अर्थात आत्मा अर्थात हम मैं अर्थात हम अपने आप को नहीं जानते ये हो गया अविद्या तो स्व अविद्या क्या समाज हो गया इसमें आगे स्व अविद्या कल्पित ये कल्पित के साथ क्या समास कहेंगे पंचम तृतीया में क्या विभूति लेंगे तृतीया पंचमी भी हो सकता है तृतीया कैसा समाज कहेंगे अर्थात अविद्या के द्वारा कल्पित हुआ हुआ आगे स्व अविद्या के द्वारा कल्पित हुआ कौन कल्पित हो गया अनात्मा देहादी तो स्व विद्या कल्पित और अनात्मा देहादि इसके बीच में क्या समास हो जाएगा कर्म धर्म तो स्व विद्या से कल्पित हुआ वही अनात्म पदार्थ अनात्म को नहीं कहते देहादि अच्छा तो अभी यहाँ तक पद हो गया स्वाविद्या कल्पित अनात्म देहादि आगे आत्मत्व तो अभिमान पहले आत्मत्व तो अभिमान में क्या समास कहेंगे आत्मत्वाभिमान दो पद है एक आत्मत्व एक अभिमान है इसमें क्या समास होगा संजीत जी कुछ समास घटता है आत्मत्वाभिमान इसमें समास क्या होगा हाँ आत्मत्व से अभिमान आत्मत्व का ही अभिमान करता है जैसे कहते हैं धनाभिमान धन से अभिमान अभिमान अर्थात तो धर्म मेरा है मैं धनी हूँ इस प्रकार की मानना यही हो गया अभिमान आत्मा देहादि आत्मत्वाभिमान हाँ, अभी स्वाविद्या कल्पित अनात्म देह और आगे हो गया आत्मत्व का अभिमान ये देह और आत्मत्व अभिमान में क्या समास होगा सप्तमी स्वाविद्या कल्पित अनात्म देहाद आत्म तो अभिमान तो देहादि आत्मा है अनात्मा है अनात्मा है और उसमें क्या अभिमान करता है आत्मा को अभिमान करता है तो ये देहादि कहाँ से आए कल्पित हुआ किसके द्वारा स्व अविद्या के द्वारा अर्थात हमको आत्मा का अविद्या होने से ये देहादि का कल्पना करते हैं और देहादि का कल्पना करके वो स्व विद्या कल्पित देहादो आत्मत्व अभिमान हो जाते हैं देहादि में आत्मत्व अभिमान उसके आगे नहीं इसलिए भगवान भाष्यकार विवेक चुड़ामणि में कहते हैं अहंकारादि देहांतन बंधान अज्ञान कल्पितान अहंकार से लेकर के देह पर्यत तो इतने ही बंध हैं उसके आगे बंध नहीं होना चाहिए तो ये मेरा कपड़ा है ये मेरा कोकिन है ये इस प्रकार नहीं करना है उसके आगे अगर बंधन हो गया तो अर्थात हम ये साधन मार्ग में नहीं है तो देह से लेकर के अंदर जो है उतने ही बंधन होना चाहिए यहाँ कहते हैं देहादो अभिमान उसके आगे पदार्थ में और अभिमान नहीं होना चाहिए वो गया तो गया आया तो आया ठीक देहादो अभिमान रूप वही हो गया बंधन स्वाविद्या कल्पित अनात्म देहादो आत्मत्वाभिमान रूप बंध रूप कह दिया अर्थात क्या समझ के दिया कर्मधारय तो ये जो देहादि में अनात्म पदार्थ में आत्मत्व का अभिमान होता है यही बंध है और बंध आगे निवृत्ति वो मुख्य है क्या समझ होगा ष्टी बंध से निवृत्ति स एवं मोक्ष तो ये बंध की निवृत्ति होना यही मोक्ष है ये बंध क्या हो गया देहादि अनात्मा में आत्मा को अभिमान कर गया ये जो अभिमान करना ये कोई वास्तव पदार्थ है ना केवल कल्पना करता है मन से देखिए यहाँ दो कल्पना चीज आ गया एक तो देहादि में आत्मत्व का अभिमान करता है ये एक कल्पना है और ये देहादि कहाँ से आए किसे कल्पित हुए हाँ। हम देखिए दुगुना कल्पना में चल रहे हैं जगत में पहले देहादि का कल्पना करते हैं और उसमें फिर अभिमान कर जाते हैं दो बार हम मतलब कल्पित चीज में चलते हैं और जगत इसमें चलता है दो बार कल्पित होकर फिर जगत चलता है उसका निवृत्ति बंध से निवृत्ति निवृत्ति द्वारा स्वस्वरूप अवस्थान अभी स्व अविद्या होकर के देह कल्पित होकर के उसमें अभिमान कल्पित कर दिया था अभी ये जब स्व अविद्या चली जाएगी तो स्व स्वरूप अवस्थान अर्थात स्वरूप स्थिति हो जाएगा आत्मा अवस्थान तो अभी स्व स्वरूप यहाँ अभेद सृष्टि अभिमान रूप में स्वामी जी कर्मदार्य हो गए अभिमान रूप हाँ, अभिमान बंध यही अभिमान ही बंध है तो रूप कैसे तो रूप अर्थात ये कहता है कि बीच में कर्मधारय कर दिया जैसे कहते हैं कि अंधकार रूप आवरण यहाँ कहते हैं अंधकार रूप आवरण यहाँ कोई वस्त्र रूप आवरण नहीं है तो अंधकार और आवरण में कर्म धारा करते हैं कहेंगे नहीं ना वस्त्र रूप आवरण है समझते हैं नहीं अंधकार रूप आवरण है रूप शब्द कहने का तो यही इसका स्वरूप है कर्म धारा स्व स्वरूप अवस्थान तो ये हो गया मोक्ष शब्द का आगे कश्य सिद्धि कश्य सिद्धि होता कश्य सिद्धि मोक्ष से सिद्धि तो ये हो गया मोक्ष सिद्धि सिद्धि शब्द का अर्थ कहते हैं प्राप्ति तदर्थम तो मोक्ष सिद्धि हो गया सिद्धि का अर्थ प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति तदर्थम तो क्योंकि श्लोक में क्या शब्द है रोचते मोक्ष सिद्ध ये क्या विभूति है सिद्ध में चतुर्थी इसलिए कहते हैं तदर्थम तो तदर्थम में क्या समस्या हुआ चतुर्थी क्या सूत्र चतुर्थी सूत्र समास करने के लिए क्या सूत्र है श्री लक्ष्मी जी बता पाएंगे आप हाँ, तो समास विग्रह कैसे कहेंगे तदर्थ तो में आप बताएंगे चतुर्थी कहना पड़ेगा तस्मी अभी हाँ यहाँ तस्सी तो स्त्रीलिंग है तस्यी नपुंसक है ये इदम तस्यी इदम क्योंकि मोक्ष सिद्धि ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया इसलिए तस्यी इदम इदम क्यों तदर्थम दिया है अगर तदर्थ होता हम कहते तस्यी भय इस प्रकार तदर्थम अनेन सर्वानर्थ अभी ग्रंथ का प्रयोजन हो गया अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का प्रयोजन क्या होगा क्या प्राप्त होगा मोक्ष प्राप्ति अनेन अर्थात ग्रंथ का प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति ये कहने से अनेन अर्थात इसके द्वारा सर्वानर्थ निवृत्ति द्वारा परमानंदा वाक्य रूपम प्रयोजन दर्शितम सर्व अनर्थ निवृत्ति द्वारा परमानंद परमानंदा वाप्ति परमानंद से अवाप्ति अवाप्ति अर्थात प्राप्ति सारे अनर्थ की निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए क्योंकि यही मोक्ष है क्योंकि सारे अनर्थ कहाँ से आ गया सु अविद्या से आरम्भ हुआ और जब ज्ञान हुआ ये सु अविद्या चली गई तो सारे अनर्थ चले गए सारे अनर्थ जब चले गया तो प्रथम था स्व प्रथम था स्व स्व अविद्या दोनों मिलकर के अनुथा आरम्भ करते हैं अभी अविद्या चली गई कौन बच जाएगा स्व और स्व का रूप हो गया परमानंद तो सचिदानंद रूप में तो परमानंद अवाति तो क्या परमानंद पहले नहीं था था किंतु तो आवृत हो गया था अविद्या के द्वारा अभी अविद्या चली गई तो परमानंद भी प्रकट हो जाएगा इसलिए यहाँ जो अवाप्ति कहते हैं इसको प्राप्त से प्राप्ति अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है इसके लिए उदाहरण देते हैं गले चामीकरण या चामीकरण माला गला में माला है किंतु अभी घंटी हो गया जल्दी जाना है तो माला तो पहले डाल दिया था किंतु फिर पूछता है ठंडा तो नहीं माला कहाँ रख दिया तो इस प्रकार की जैसे होता है ये कहते हैं ये प्राप्त से प्राप्ति ये कोई अर्थात हमारा स्वरूप कोई दुख रूप हो गया था तो ये नहीं दुख तो ये तो बुद्धि का कार्य है तो ये सब जो मिथ्या निश्चय हो गए तो फिर परमानंद से अवापी अवापी अर्थात प्रकट अभिव्यक्ति ये प्रयोजन दर्शित ग्रंथ का प्रयोजन दिखाया गया जब द्वारा आता है स्वामी जी द्वारा निवृत्ति द्वारा सर्व निवृत्ति मतलब द्वारा तृतीय अर्थात इसके द्वारा बाई देख अंग्रेज में क्योंकि अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होगा ये अनर्थ ही आवरण करके रखा है हमारा परमानंद रूप को अनर्थ निवृत्ति हो जाने से ये परमाणु की अभिव्यक्ति होगी आवरण चला गया आगे किम लक्षण अपरोक्षानुभूति ही तो ये जो किम लक्षण अपरोक्षानुभूति है ये वाक्य यहाँ पूर्व पर संबंध इसका नहीं है क्योंकि यहाँ भी अपरोक्षा अपरोक्षानुभूति का विचार नहीं ये तो फिर ग्रंथ का प्रयोजन और आगे अधिकारी ये सब विचार चलेगा तो यह वाक्य होना चाहिए जो टीका में द्वितीय पंक्ति दिया ना ये श्लोक हम्म। तथा तो चयम अर्थ तो यहाँ ये होने से ठीक था कि किम लक्षण अपरोक्षानुभूति आगे वहाँ अपरोक्षानुभूति को समझा रहे हैं तो इसलिए ये वाक्य वहाँ होने से ठीक था किंतु यहाँ लिखा गया तो हम लोग टिप्पणी लिख सकते हैं कि अर्थात ये एक वाक्य द्वितीय पंक्तो विभाव्यम इस प्रकार की कुछ क्योंकि यहाँ इसका संगति नहीं है तथा चम अर्थ वहाँ ये जाने से ठीक है उसको दोनों पार्श्व में ब्रैकेट करके यहाँ को चिन्ह दे करके वहाँ तथा चम अर्थ के आगे उसको चिन्ह कर दीजिए ताकि ये वाक्य वहाँ जाने से ठीक था अच्छा अभी विषय हो गया और प्रयोजन हो गया अरे अधिकारी कहेंगे ये ग्रंथ के लिए अधिकारी कौन है तृतीय भाग में कहा सदभिर तो सदभी सदभी का अर्थ कहते हैं साधु भी तो ये ग्रंथ का अधिकारी हो गया साधु कौन साधु कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक आदि साधन चतुष्ट संपन्न मुमुक्षुवीर तो ये ग्रंथ का अधिकारी वही है जो नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कर लेता है नित्य वस्तु तत्वोधन कहा गया नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तो वही उसी के पीछे चलना है अनित्य वस्तु से हटना है तो जो नित्य वस्तु के पीछे ही चलता है अनित्य वस्तु से हट गया है उसी को कहा जाए कि नित्य अनित्य का विवेक हो नहीं तो हमको तो विवेक है हम जानते हैं क्या नित्य है क्या अनित्य है किंतु तो दुर्योधन जैसा जाना में धर्म नच में प्रवृत्ति और जाना में अधर्म नच में निवृत्ति तो अधर्म को जानता हूँ धर्म को जानता हूँ किंतु तो धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म से निवृत्ति नहीं होती है तो दुर्योधन भी धर्म अधर्म का विवेक तो उसको है नहीं है, है? तो दुर्योधन को विवेक ही कहा जाएगा <laughs> वो नहीं है तो जान करके उसको जो हटेगा अर्थात ये वेदांत शास्त्र वेदांत शास्त्र नहीं शास्त्र परोक्ष ज्ञान को ज्ञान नहीं कहता वास्तविक अपरोक्ष ज्ञान होना अपरोक्ष ज्ञान अर्थात वो हमारे जीवन में उतर जाना विवेक हुआ और हम अनित्य पदार्थ से हट गए तभी हमको कहा जाएगा हमको विवेक कहें और हम जानते हैं ये दोनों भिन्न है कि तो चलते हैं तो दुर्योधन जैसे न चलने विपरीत तो इस प्रकार की नहीं इसलिए कहते हैं साधु साधु वीर नित्य नित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय संपन्न ही नित्य नित्य वस्तु विवेक ये प्रथम साधन हो गया और द्वितीय साधन क्या है वैराग्य उसका लक्षण क्या कहा गया यह मुद्रा को मेरा यह इस्लोक में मूत्र परलोक में कोई भोग हमको नहीं चाहिए उससे विराग हो गया द्वितीय वैराग्य आगे तृतीय साधन संपत्ति सम चिकित्सा श्रद्धा समाधान और चतुर्थ तो ये साधन संपन्न जो हो जाएगा उसको कहा जाएगा मुमुक्षु तो मुमुक्षु अर्थात यह ग्रंथ मुमुक्षुओं के द्वारा ही अध्ययन करने का योग्य है तो भाष्यकार क्या कह दिया सदभी आगे क्या शब्द है एवं एवं अर्थात जो कहते हैं आप ही आइए इसका क्या अर्थ है दूसरों को साथ मत लगे ये आप ही ही शब्द संस्कृत में एवं अवधारण निश्चय करना है तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं सदभी एवं अर्थात सदभी का अर्थ हो गया साधन चतुष्ट संपन्न अर्थात जो साधन चतुष्ट संपन्न नहीं है उसके लिए ये ग्रंथ है नहीं और टीकाकर इसको कहते हैं ये शब्दात नही अन्य लोगों के लिए ग्रंथ नहीं है इसलिए अगर ये साधन चतुष्ट नहीं है और वेदांत में लग जाते हैं ये खाली शुष्क हो जाता है अर्थात इसका फल नहीं आता है और चलते रहते हैं और धीरे धीरे इसका फल नहीं होने से वो इसका प्रशंसा करेगा ना निंदा करेगा निंदा करेगा तो धीरे धीरे ये नाशी हो जाता है कहता है इससे क्या लाभ होता है इससे कुछ लाभ नहीं है तो योग्यता अभाव में अगर ये सब ग्रंथ हाथ में लग जाए तो इसलिए पहले कहते इसे रहस्य विद्या अरण्य में होना है अभी तो इसे माइक में चल रहा है तो <laughs> माइक हट करके अभी नेट में आ गया तो ये सब वास्तव इसमें होता नहीं एवं शब्दात न अन्य ही अन्य होकर के स्पष्ट कर कर्म उपासना अधिकारी भेद भाव कर्म उपासना में जो अधिकारी है उनके लिए यह ग्रंथ नहीं है उनको तो कहा जाएगा कर्म करिए और पहले तो सकाम कर्म करेगा फिर सकाम कर्म करते करते परीक्षा कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम माया ये करते से क्या हुआ अनंत बार इसको कर लिया वही रोज कहते हैं वही रसगुल्ला खाते खाते तो डायबिटिक हो गया तो भी छूटता नहीं लेंगे ये बुद्धि नहीं होती है तो कर्म करेंगे सकाम फिर जो बार बार विचार करते हैं कहते हैं अब तो कामना से नहीं अब तो निष्काम करेंगे सब कर्म निष्काम हो जाए तो निष्काम करने से फिर वासना हटेगा किन्तु चित्त में विक्षेप रहेगा इसलिए फिर उपासना भी करना है चित्त एकाग्रता के लिए तो होने के बाद फिर ये साधन चतुष्ट होगा कर्म उपासना करने से साधन चतुष्टय होगा तो जो भी कर्म उपासना स्थिति में है उसके लिए ये ग्रंथ नहीं है न नेहे कर्म उपासना अधिकारी भाव आगे सदभिर प्रयत्न भीक्षणीय भीक्षणीय विशेषण ईक्षणीय ईक्ष दर्शन अर्थात विचारणीय सदगुरु मतलब मुमुक्षु के द्वारा ये ग्रंथ बार बार विचार करना चाहिए मुहुर मुहु मुंह में ओकार छुट गया मुंह में ओकार छुट गया मुहुर आगे बहु हो गया महु मधु अच्छा, मधु मतलब ये उसको कहते तो मुहुर मुहुर मुहुर मुहुर अर्थात बार बार विचार करना चाहिए तो इसके लिए ये योग सूत्र का एक देते हैं दीर्घ काल तो अभ्यास प्रयत्न तो मुहुर्मु का अर्थ निरंतर करे और दीर्घ काल करे अभ्यास शब्द का ये अर्थ है सतु दीर्घ काल सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि ही अभ्यास का ये अर्थ पतंजलि महर्षि योग निरंतर करे अर्थात हमेशा इसी के पीछे पड़े रहे और कहते हैं दीर्घ काल करें हम तो हमेशा मतलब इसके पीछे तो पड़े रहेंगे किंतु तो दो दिन जाएंगे जहाँ शिविर होगा कहते हैं दो दिन जाएंगे पूरा आठ दस घंटा करेंगे फिर आ जाएंगे कहते फिर वही नाली में तो इस प्रकार के नहीं कहते दीर्घ काल मतलब निरंतर भी करना चाहिए और दीर्घ काल भी करना चाहिए और सत्कार से भी तो वहाँ है तथा श्रद्धा के साथ करना चाहिए ये नहीं कि कोई जोर जबरदस्त करता है इसलिए हम इसमें चलेंगे ऐसा नहीं मुहुर मुहु नैरंतरीय काल अभ्यास प्रयत्न काल अभ्यास करेंगे प्रयत्न करेंगे ये अं, अभ्यास का अर्थ है मुझे अं, योग सूत्र में वो महर्षि पतंजलि कहते हैं योग वृत्ति निरोध ये कैसे निरोध हो जाएगा कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तब निरोध अभ्यास तो करे और वैराग्य हो अभ्यास क्या है कि तत्व स्थित हो यत्न अभ्यास अर्थात चित्त को निरोध करने के लिए वो स्थिति प्राप्त करने के लिए अभ्यास बार बार लगे रहेंगे और वो अभ्यास क्या है मतलब स्थिति में यत्न क्या है कि दीर्घ दीर्घकाल करना पड़ेगा दीर्घकाल नैरंतरीय सत्कार से भी तो तो हमेशा ये सब करते रहेंगे तब तो क्या फिर भोजनालय नहीं जाएंगे और गंगा दर्शन के लिए नहीं जाएंगे कहते तो स्नान भिक्षा आदि अनादरण स्नान भिक्षा इत्यादि में इसमें आदर नहीं रखना है नहीं तो कल वहाँ बड़ा भंडारा है <laughs> ये सब हो जाएगा तो कहते भिक्षा में आदर हो गया वो सब नहीं है और स्नान में कहेंगे वो तीर्थ का जल सबसे पवित्र इसलिए साल में कम से कम एक बार तो जाकर के वहां स्नान करना चाहिए कहते हैं वो सब में नहीं और जो बाकी भी जहाँ भी हम नित्य स्नान करते हैं कहते हैं वो सब में अर्थात आडम्बर ये सब नहीं है ये तो शरीर रक्षा के लिए बात इतना सर्वनिम्न ये सब कहते हैं दीक्षा केवल शरीर रक्षण के लिए और स्नान के लिए सब शरीर रक्षण के लिए करना अनादर का तो महत्व नहीं रहना चाहिए ऐसा नहीं कि अब ये सब नहीं करना चाहिए ये तो करना ही पड़ेगा शरीर रक्षण के लिए महत्व वीक्षणीय इसको बार बार विचार करना चाहिए कैसे विचार करेंगे कहते हैं गुरुमुखा अवगत्य विचारणीय गुरुमुख से जान करके अवगत्य जान करके अवगत्य इसमें गम धातु से क्या प्रत्यय हो गया अवगत्य का जान करके व्याकुल्योग वाला सूत्र समाज से नहीं पूर्वोत अवगत्य त्वा को लोप हो गया त्वा जो है कित है गम धातु के पद में जलादि कित आ गया गम का मकार अनुधातु पदेश अवगत्य अवगत्य अर्थात जान करके अवपूर्वक गम धातु का अर्थ ज्ञानात्मक होता है जान करके विचारणीय विचार करना चाहिए अनेन मुमुक्षुर अधिकारी दर्शित ये ग्रंथ का अधिकारी मुमुक्षु भी है एतेन एव पूर्व कांडो उत्तर कांडो साध्य साधन भाव संबंध से दर्शितो भवती बोधव्यम अर्थात ये विचार यहाँ तक ये जो विचार दिखा दिए यह अपरोक्षानुभूति अर्थात ये परमात्मा विद्या है और पूर्व कांड पूर्व कांड अर्थात मीमांसा दर्शन जो कर्म कांड और उत्तर कांड हो गया ये जो ज्ञान कांड तो अभी यह जो ग्रंथ विचार हो रहा है यह ग्रंथ में ज्ञान कांड का विचार चल रहा है इसलिए पूर्व कांड जो कर्म कांड हो गया ये सब के साथ ये ज्ञान कांड ग्रंथ का क्या संबंध होगा कहते साध्य साधन भाव अर्थात तो कांड साधन है उसको ठीक करेगा तभी तो ज्ञान कांड में वो आ पाएगा तो जो ये नहीं करेगा अर्थात यज्ञ दान तपो इत्यादि ठीक से नहीं करेगा उसको ये बहिरंग साधना ये ठीक से होगा भी बहिरंग साधना अर्थात विवेक वैराग्य अंतरंग साधना श्रवण श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधना और साधन चतुष्ट जो कहा जाएगा विवेक वैराग्य ये बहिरंग साधना और परंपरा साधन कहा जाएगा जो यज्ञ दान तप ये परंपरा अर्थात दूर में रहेंगे ये दूर में रह करके साधन चतुष्ट बनाएंगे साधन चतुष्ट होने से श्रवण आदि में साध्य साधन भाव संबंध से दर्शित भगवती बोधव्यम ऐसा जानना चाहिए अर्थात यह ग्रंथ का पूर्व कांड तथा कर्म कांड के साथ साध्य साधन भाव संबंध है चार चीज कर दिया गया विषय हो गया ब्रह्मात्म तत्व प्रयोजन हो गया मोक्ष अधिकारी हो गया मुमुक्ष संबंध हो गया साध्य साधन भाव जो कर्म करेगा उसी को आगे साधन चतुष्ट होगा अर्थात बहिरंग साधन होगा तो यज्ञ दान तप जो परंपरा साधन है वो करने से बहिरंग साधन प्राप्त होगा उसके ऊपर प्रश्न मनु कार्य से कारणाधीन पूर्वोक्त साधन चतुष्ट से किम कारण इति आपने कह दिया कि जो मुमुक्षु है वही ग्रंथ में अधिकारी है मुमुक्षु अर्थात साधन चतुष्ट संपन्न ये साधन चतुष्ट ये कैसे होगा इसका कारण क्या है वो पूछ रहा है कार्य से कारणाधीन तो कार्य से ष्टी है कारणाधीन अर्थात कार्य कारणाधीन जो कार्य होगा वो कारणाधीन होगा कारणाधीन में समाज कैसे जाएंगे कारण से अधीन तो जो कार्य होगा वो कारण का अधीन होगा अर्थात कारण है तभी कार्य होगा तो पूर्वोक्त साधन चतुष्ट से आप जो कह दिए कि जो मुमुक्षु है वो अधिकारी होगा मुमुक्षु का साधन चतुष्ट वाला तो साधन चतुष्ट का किन कारण इति आशंक्य कहते हैं प्रतिगतिया स्वर्ण थी वहाँ स्ववर्णे करना है स्वर्ण एक धर्मेण स्ववर्णाश्रमधर्मेण धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं च भवेत् पुंसाम् साधनं च भवेत् पुंसाम् वैराग्यादि चतुष्टयम् वैराग्यादि चतुष्टयम् धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं च वैपुंसाम् वैराग्यादिचतुष्टयम् स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् पुंसाम् वैराग्यादिचतुष्टयम् साधनं च भवेत् सच को ऊपर ले लेंगे स्वर्णाश्रम धर्म न तपसा हरिदोषणाद क्योंकि वहां तीन कह रहे थे तो स्वर्ण स्ववर्णाश्रम धर्मे न तपसा हरिदोषणाद पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टय साधन भवे इतने से वैराग्यादि चतुष्टय साधन होगा स्वर्णाश्रम धर्म स्व स्वपद से देह तो देह संबंधी क्योंकि वर्ण आश्रम यह देह संबंधी है क्योंकि मन तो पूर्व जन्म में था इस जन्म में रहेगा मुक्ति नहीं होगी तो आगे भी चलेगा तो मन के मन को लेकर के वर्णाश्रम नहीं होता है ऐसे भी के होता है तो देह संबंधी जो वर्णाश्रम धर्म स्व वर्णाश्रम तो इसमें संबंध कैसे समाज लेंगे स्वस्य वर्णाश्रम वर्णाश्रम में कैसे समाज कहेंगे वर्णस्य असो आश्रमस्य इति वर्णाश्रमो वर्णस्य असो आश्रमस्य इति वर्णाश्रमो तो स्ववर्णाश्रम स्ववर्णाश्रम तो स्वस्य वर्णाश्रमो इति स्ववर्णाश्रमो आगे तदेव धर्म अथवा वर्णाश्रम से धर्म वर्णाश्रम संबंधित धर्म क्योंकि प्रत्येक वर्ण आश्रम संबंधित धर्म अलग अलग हो जाते हैं जैसे स्वस्य वर्णाश्रम हुआ इसको क्या वर्णाश्रम से धर्म प्रत्येक वर्ण आश्रम में अलग अलग धर्म कहा गया ब्राह्मण के लिए तो धर्म बहुत कठिन कहा गया जो गीता इत्यादि में देखेंगे तो ब्राह्मण का धर्म में कभी भोग का वेश मात्र संबंध भी नहीं है तो इसलिए महाभारत का श्लोक है ब्राह्मण से उदय होयम नो को भोगाय कल्पते हैं ब्राह्मण का ये शरीर भोग के लिए योग्य नहीं है कहते हैं यह क्लेशाय महते प्रत्यानंद्य सुखाय यहाँ महत क्लेश भोग करना है और ये प्रत्यय प्रत्यय अर्थात शरीर से छूट गए अगर मुक्त हो गया तो शरीर छूट गया तो तो अनंत सुख होगा अगर मुक्ति भी नहीं हुई तो भी उसका तो अनंत सुख अर्थात समान सुख स्वर्ग मुक्ति से प्राप्त होगा अर्थात और ब्राह्मण कहने से आजकल के जो लोग घर छोड़ करके चलते हैं क्योंकि ब्राह्मण अपना कर्तव्य ठीक नहीं किए बोल करके ये संन्यास चीज आया नहीं तो वैदिक सभ्यता में ये सब संन्यास इतना नहीं था कोई ऋषभदेव इत्यादि कोई एक दो होते थे संन्यासी सुखदेव जैसा नहीं तो इतने सारे नहीं होते ये सब कार्य ब्राह्मण लोग ही करते थे अर्थात जीवन में तपस्या निष्ठा शास्त्र में रुचि तो ये ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ये ब्राह्मण का कर्म कार्य है तो उन्होंने ही किए गिर गए तो गिर गए वो फिर आए सन्यासी गोष्ठी आए अब ये भी गिर रहे हैं पता नहीं <laughs> आगे शिव जी कैसे उसकी रक्षा करेंगे इसलिए ब्राह्मण का शरीर बिल्कुल भोग के लिए ये नहीं है सो धर्म ब्राह्मण अर्थात आजकल का महात्मा भोग दिशा में कभी भी मन जाना नहीं है अगर गया तो गिर गया अपना स्थिति से गिर गया और अपना जो वर्णाश्रम है उससे गिर जाना मतलब ये महान पाप का जिसका जो धर्म अगर वो उसको ठीक किया तो कोई बड़ा काम नहीं किया अगर उसे गिर गया तो महान हानि है जैसे कोई किसी योग्यता से कोई पद में आया तो आया ठीक है उसका योग्यता है वो आया किंतु वहां से गिर गया मतलब ये महान बात का विषय तो इसलिए गिरना नहीं चाहिए तो निश्चय हो गया इस मार्ग में चलना है तो फिर कठिनता को सहन करके ही चलना है धर्म है ना वर्णाश्रमों में जो धर्म कहा गया और तपस्या तपस्या करने से चित्त शुद्ध होता है इसलिए जो व्रत उपवास जो चंद्रायण इत्यादि कहा जाता है कठिन तपस्या अवसर करने से शरीर मन शुद्ध होता है हरितोषणा तो समाज कैसे कहें तोषण संतोष हरितोषण में समाज कैसे कहेंगे हरिका तो क्या कहेंगे हरे हरे है तोषण हरितोषण अर्थात हरि का पोषण भी करना है अर्थात ईश्वर आराधना करना भी है ऐसा नहीं कि ज्ञान मार्ग में आगे अब तो हम आगे ज्ञान मार्ग में चलेंगे इसलिए हरि पोषण नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा तभी जाकर के चित्र ये तीन चीज दे दिया सुवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणाथ हरितोषणाथ में पंचमी दे दिया तृतीया मत मतलब हेतु उससे करने से क्या होगा पुंसाम पुंसाम अर्थात मनुष्यों का वैराग्य आदि चतुष्टयम साधन भवे तो वैराग्यादि आदि ये साधन चतुष्टयम प्रथम क्या है विवेक किंतु यहाँ भगवान कहते हैं वैराग्य तो चार साधन में वैराग्य और मुमुक्ष तो ये दोनों मुख्य है तो ये दोनों है ये दोनों है अर्थात उसका विवेक और सर्क संपत्ति है तो ऊपर वाला चीज कह दिए तो नीचे वाला तो आएंगे ही आएंगे अर्थात जिसका वो नीचे वाला हो गया संतोष हो जाएगा कहते नहीं विवेक हो गया कहते हो जाएगा नहीं ये वैराग्य होना चाहिए तो वैराग्य आदि चतुष्टयम होगा तो वैराग्य आदि चतुष्टयम कहाँ से होगा कहते वर्णाश्रम धर्म पालन करे तपस्या तो करे और ईश्वर उपासना करे अगर करेगा तो ही वैराग्य होगा और ये जो वर्णाश्रम धर्म पालन करना तपस्या तो करना उपासना करना इतना आसान नहीं है अगर इतना आसान होता तो वैराग्य संपन्न बहुत होकर के ये सब भरे रहते ये सब आश्रम ज्ञान मार्ग के आश्रम बहुत तो कठिन चीज है किंतु करना भी पड़ेगा कोई अन्य उपाय भी नहीं है अभी सुवर्णाश्रम धर्म में कहा गया अत्र पदे न मुख्य गौण मिथ्या भेदेन त्रिविधेशु स्वपद का अर्थ हो गया आत्मा आत्मा का तीन अर्थ है कि मुख्य एक गौण एक मिथ्या ये पंचदशी इत्यादि ग्रंथ में आता है तो आत्मा का मुख्य अर्थ क्या है हाँ, हाँ। अर्थात आत्मा जिसको मुख्य आत्मा कहते हैं प्रत्यक और आत्मा का गौण अर्थ पुत्रादि पुत्रादि को भी आत्मा मानता है क्यों कहता है कि जब पुत्र मर गया क्या कहता है मैं मर गया इस प्रकार की कहता है तो पुत्र को भी मैं कह देता है और मिथ्या आत्मा मिथ्या आत्मा देहात्मा तो मुख्य आत्मा प्रत्यक्ष चैतन्य जो स्वरूप है गौण और मिथ्या में क्या अंतर है गौण में जहाँ हम जानते हैं वो आत्मा नहीं है फिर भी शब्द प्रयोग करते हैं इसको कहा जाता है गौण प्रयोग जैसे कहा जाता है सिंहो मानव ये जो मानव का बालक है वो सिंह है कहने वाला भी जानता है कि ये बालक सिंह नहीं है सुनने वाला भी जानता है किंतु कहने वाला जो कहता है सुनने वाला समझ भी जाता है ये बालक पराक्रमी है तो इसको कहते हैं गौण प्रयोग जान करके भेद है जान करके शब्द प्रयोग होगा और भेद है नहीं जानता है इसको कहा जाएगा मिथ्या तो देह से हम भिन्न है किंतु तो नहीं जानता है और देह को मैं कहता देह को मैं कहता अर्थात मैं स्वस्थ हूँ मैं बीमार हूँ मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ मोटा हूँ तो हम कहता है देह को मैं कहते हैं इसको कहा जाता है मिथ्या आत्मा तो स्व पद का अर्थ हो गया आत्मा आत्मा तीन प्रकार के शास्त्र में व्यवहार होता है मुख्य गौण मिथ्या त्रिविधेशु साक्षी पुत्रादि देहादि कक्षणेशु साक्षी उत्तरादि देहादि तीन प्रकार की आत्मा हो गया इसमें मुख्य आत्मा कौन हो गया साक्षी गौण आत्मा पुत्रादि मिथ्या आत्मा देहादि यथा संख्या है लक्षण लक्षण अर्थात स्वरूप अर्थात यही तीन प्रकार के आत्मसु तीन प्रकार के आत्मा हो गया मध्य इनका बीच में मिथ्यात्मा योग्यवाद गृहते क्योंकि जो शुद्ध आत्मा साक्षी उसका कोई वर्णाश्रम है नहीं है और जो गौण आत्मा पुत्र पुत्र का वर्णाश्रम से हमको कोई नहीं क्योंकि धर्म तो हमको करना होगा वैराग्य तो हमको होगा पुत्र को वैराग्य होने से और पुत्र को वैराग्य होने से पिता को कभी कभी हो सकता है क्योंकि पुत्र को वैराग्य होने से छोड़ करके चल देगा <laughs> पिता रोते रोते वैराग्य हो जाएगा तो, तो मिथ्यात्मा योग्यवाद गृह मिथ्यात्मा कौन हुआ देहा अर्थात देह संबंधी वर्णाश्रम स्व शब्द से देहात तस्य देहादेर ब्राह्मणादि वर्ण ब्रह्मचर्य आदि आश्रम प्रयुक्त न धर्मेण स्ववर्णाश्रम धर्मेण कहा गया स्व पद से देह तो स्ववर्ण में ष्टी है स्वस्य वर्णाश्रम तो कह दिया स्वस्य अर्थात तस्य देहादे ष्टी हो गया आगे वर्ण आश्रम वर्ण कहते हैं ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम स्ववर्णाश्रम धर्मेण और तेन प्रयुक्त धर्म तथा संबंधित धर्म वर्णाश्रम से प्रयुक्त हो गया धर्म अर्थात हमारा ये वर्ण ये आश्रम है उसके देकर करें आप ये धर्म हो स्वर्णाश्रम प्रयुक्त न धर्म न प्रयुक्त अर्थात उसके द्वारा निर्णय हो गया धर्म तो धर्म वो धर्म क्या है कहते ब्रह्मार्पण कृत कर्मानुष्ठान जन्यन अपूर्वेण ब्रह्मार्पण कृत कर्मानुष्ठान जनीन एक पद तो हो गया तो ब्रह्मार्पण समास कैसे कहेंगे चतुर्थी हाँ, हो जाएगा चतुर्थी नहीं तो सप्तमी कहते दिया ब्रह्मणी अर्पण कर दिया अग्नि में अर्पण कर दिया गंगा जी में अर्पण कर दिया चतुर्थी होने से भी होगा दानार्थ लेकर के हम गंगा जी को दान कर दिए वहां चतुर्थी हो जाएगी तो ब्राह्मणी अर्पण ब्रह्मणी अर्पण साधारण कहते हैं ब्रह्मार्पण आगे ब्रह्मार्पण कृत कर्म ब्रह्मार्पण कृत क्या होगा ब्रह्मार्पण ब्रह्मणी अर्पण तेन कृत अर्थात ब्रह्म अर्पण के द्वारा अर्थात इस माध्यम से कर रहा है ब्रह्मार्पण कृतम ब्रह्मार्पण कृतम किम कर्मानुष्ठान अर्थात कर्म का अनुष्ठान करता है कैसे करता है ब्रह्मार्पण करते हैं अर्थात कर्म ब्रह्म को अर्पण नहीं कर देता है नहीं तो भगवान को कह देगा शिव जी आप हमारा कर्म करो क्यों हम आपको कर्म अर्पण करते तो, तो ब्रह्मार्पण अर्थात कर्मानुष्ठान करे जो फल को अर्पण कर दे तो ब्रह्मार्पण कृत कर्मानुष्ठान नहीं तो पिता पुत्र को कह रहे हैं आप पाइप चलाएंगे ना आप ये हेलमेट पहनो पुत्र क्या करते हैं आप पहन लो हम नहीं पहनता है कल <laughs> ही हम देखा हमारा था तो- कैसे समय हो गया पिता पुत्र को कहते हैं हम चलाएंगे हेलमेट लगा पुत्र कहता है उतना जोर से मैं नहीं लगा था आप लगा <laughs> ब्रह्मात्मा कृत कर्मानुष्ठान तो उससे कर्मानुष्ठान से क्या होगा कर्मानुष्ठान जन्य कर्मानुष्ठान तो जन्य थे कर्मानुष्ठान जन्य वो जन्य क्या हो जाएगा अपूर्व अपूर्व क्या है जिसको धर्म कहते हैं पूर्व मीमांसा प्रसिद्ध है ना वो पूर्व मीमांसा जो मीमांसा कहते हैं कर्मकांड वहां प्रसिद्ध है ब्रह्मार्पण करके अगर कर्म अनुष्ठान करेंगे तो अपूर्व होगा अगर फलवासना होकर के कर्म करेंगे तो वो अपूर्व होगा वो आपको फल देगा चित्त तो शुद्ध नहीं कराएगा ऐसा तो साधन चतुष्ट नहीं करवाएगा प्रसिद्ध है ना भावी फलाधार वो जो अपूर्व होगा वो भावी फलाधार आगे भावी अर्थात आगे आगे फल देगा इसलिए फल का आधार वही बनेगा अदृष्ट अदृष्ट धर्माधर्म ये अपूर्व समान भावी फलाधार होते ना पुण्यादि शब्द वाच्य नहीं वही पुण्यादि शब्द का तो वाच्य हो जाए पुण्य अदृष्ट अपूर्व अर्थात सुवर्णाश्रम धर्म करेगा तो उससे पुण्य होगा और यह पुण्य आपको साधन चतुष्ट बनाएगा अगर ब्रह्मार्पण होकर के कर्म हो रहा था अगर आपने लिए कर्म हो रहा है तो फिर साधन चतुष्ट बनेगा उससे हाँ ध्यान हाँ, तक